देखि पवन सुतपति अनुकूला हृदय हरस बीते सब सूला नाथ शैल पर कपिपति कपिपतिरहे सो सुग्रीव दास तव तवहे तहि सन्नाथमयत्रि की जय दीन जान तही अभय करी जय सो सीता कर खोज हे जह हमर कटकोटि पठाए स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे उन्होंने कहा हे नाथ इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है वह आपका दास है हे नाथ उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बानरों को भेजेगा यही विधि सकल कथा समझाए लिए जन प्री पीठ चढ़ाए जब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा सादर मिले उनाई पद माथा बेटऊ अनुज सहित रघुना रघुनाथा कपिकर मन विचार यही रीति करिह विधि मोसन ये प्रीति इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे तब हनुमत भय दिशे के सब कथा सुनाए पावक साखी दे करे जोरी प्रीति दिलाए तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी केने प्रीति कछु बेचन राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाखा कह सुग्रीव नयन भरि बारे मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था राम राम हा राम पुकारे हम ही देख दिन है उपट डारे मांगा राम तुरत तह पटौर लाई लाए सोचयत कीन्हा कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा सजहु सोच मन आनहु धीरा सब प्रकार करिहूँ शिवकाय यही विधि मिलहि जान की आई हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था श्री राम जी ने उसे मांगा तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया सुग्रीव ने कहा हे रघुवीर सुनिए सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सेव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो